साथ कर दिया था क्योंकि इस दुनिया में आने वाला पहला इंसान ही पहला नबी था यूं नबूत और इंसानियत एक दूसरे से हम आगोश होकर चले फिर इंसानियत और नबूत की फलाह के लिए जो पहला निज़ाम उनको दिया गया वो खिलाफत के अलावा कोई दूसरा निज़ाम नहीं था और इस मनसब का तयन तख्लीक आदम के साथ वाबस्ता कर दिया गया फरमाया جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ खलीफा और तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ आदमी अगर अपनी तख्लीक का हुस्न बरकरार रखना चाहता है आदमी अगर आदमियत की खू में रहना चाहता है आदमी अगर आदमियत की अकदार और रिवायात के साथ ज़िंदा रहना चाहता है और आदमी अगर अपने मकसद पैदाइश को पूरा कर सकता है तो इसके लिए इस कायनात के अंदर माजी और उससे पहले सारे ज़मानों में इंसानियत को एक ही निज़ाम और पैगाम दिया गया जो कि खिलाफत के नाम से मौसूम है ये वो सिलसिला है जो सईदिना आदम आसमाम से चला और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस खिलाफत की खूबियों का ये कहकर इतमाम व इकमाल कर दिया गया अलियम अतमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नियामतें तमाम कर दी और इस्लाम के तुम्हारे दीन होने पर मैं राज़ी हो गया ये हो नहीं सकता कि खालिक कायनात एक दीन को पसंद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 उनके खौफ को अमन से बदल देगा इस शर पर कि सिर्फ वो मेरी इबादत करें और मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराएं उसके बाद भी जो लोग नाशुक्रिया और कुफ्र करें वो यकीनन फासिक हैं मक्का की तेरह साल जिंदगी में मुसलमानों ने अपनी बेमिसाल कुर्बानियों के जरिए अल्लाह के सामने अपने ईमान और अमल साले की शहादत पेश कर दी तो अल्लाह ताला ने हिजरत के बाद मदीने की शक्ल में उनको रियासत अता फरमाई यह इस बात का आगाज और इशारा था कि अनकरीब इनको दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से की क्यादत सियादत सियासत और इमामत अता होने वाली है आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ताला ने इस निज़ाम खिलाफत को इंसानियत के वक़ार का ज़रिया बनाया और फिर ये बात बताई कि इस कायनात के अंदर अगर खौफ इसतराप और इंतजार परेशानी और तजब्जुब लूट खसोट और इस्तेसाल जैसे दीगर जितने भी फितने हैं उनके खात्मे का सिर्फ एक ही हल है कि लोग अल्लाह की इबादत करें और इज्तमाही तौर पर यह निज़ाम खिलाफत दुनिया में कायम हो जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी नबवी ज़िंदगी में लोगों को एक अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए तैयार फरमाया मक्के के तेरह साल मुसलसल दावत और तबलीग के बाद जब आपके मोतन और मौलत की सरजमीन में सरजमीन आपके लिए तंग हो गई और वहां के बाशिंदे आपको कत्ल करने के मजमूम इरादों इरादों को अमली जामा पहनाने पर मुसर हो गए तो फिर अल्लाह के हुक्म से आपने मक्का मुकर्रमा को बादल नखास्ता छोड़ा आपकी मुखलिसाना जद्दोजहद का इनाम अल्लाह ने वादे कुरानी के मुताबिक ये दिया कि मदीने में आपको खिलाफत के इनाम से बहरावर फरमाया सो आपने मदीने में आकर इस खिलाफत के मिजाज के मुआफ़ एक रियासत कायम की और वहां चार मुरबा किलोमीटर का रकबा जब आपको मैसर आया तो आपने बाकायदा इस्लामी रियासत और माशरे के क्याम का आगाज किया फिर हम देखते हैं कि कायनात के अंदर ये पहली बाकायदा और मुंजबित खिलाफत के मिजाज और निज़ाम पर मबनी एक रियासत वजूद में आती है और तदरीजन तकमील की तरफ बढ़ती चली जाती है और फिर देखते ही देखते सन पांच और छह हिजरी के दरमियान ऐसे कवायद पैदा हो जाते हैं अल्लाह की तरफ से फतेह मुबीन की ऐसी शक्लें बनती हैं कि फतेह मक्का सामने आता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 10 साल मदीना में गुजार चुके और अपने अल्लाह से मिलने और अपने रफ़ीक आला के पास जाने के लिए तैयार हैं इस आलम में कि 12 से 13 लाख मुरबा मील तक खिलाफत का निज़ाम कायम हो चुका था और खिलाफत की बरकत पूरे तौर पर कायम और दायम थी और साहबा कराम रजी अल्लाह अजमाइन जो इस खिलाफत के निज़ाम के कलपुर्जे थे इसकी मजबूती और इसकाम के अज्जा थे उसके अनासर थे अल्लाह ताला ने उनसे राज़ी होने का ऐलान आसमान से कर दिया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए फिर कुरान मजीद ने हमें ये बताया कि इस कायनात के अंदर अगर तुम सदाकत की कोई निशानी देखना चाहते हो तो फरमाया उला उलाइकुमुस्सादिकून ये सच्चे लोगों की अलामतें सहाबा की सूरत में हमारे सामने हैं और अगर तुम रुशद हिदायत पाकिजगी और हक का कोई मनारे नूर देखना चाहते हो तो फरमाया उलाशिदून ये वो पाकिजा लोग हैं ये वो हिदायत याफ्ता लोग हैं जो तुम्हारे सामने हैं और अगर तुम कामयाबी का कोई हकीकी मैार देखना चाहते हो तो फरमाया उलाइकुमुल मुफलिहून ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर फलाह याफ्ता हैं और आ, और अल्लाह ने बहुतों को आखिरत की कामयाबी की खुशखबरी भी दुनिया ही में दी ये वो लोग हैं जो मोहम्मद वसल्लम के साथ रोहमा उबैनहुम यानी एक दूसरे के साथ मोहब्बत का तस्वर लिए हुए हैं और अशिद्दा की तस्वीर कशी कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुनिया को ऐसे आसमानी उसूल और जवाब पेश किए कि जिसके नतीजे में हम महसूस करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ एक ऐसी हिजबुल्ला एक ऐसी जमात पर परवरिश पाती चली जा रही है इरतका और इस्तेकाम के मराहल तय करती जा रही है इस जमात के मुकाबले इरतका में इस्लामी रियासत के अंदर किसी हिजब मुखालिफ का कोई वजूद नहीं जहां एक उसूल मुशावरत दिया गया हो इस उसूल के तहत बाकायदा मुसलमानों की एक ये पूरी की पूरी रियासत कायम होती दिखाई देती है और फिर जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु जिस निज़ाम पर पूरी उम्मत को कायम कर गए आपने खुद ये फरमाया कि तकून تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت أو كما قال عليه الصلاة والسلام यानी जब तक अल्लाह चाहेगा तुम्हारे अंदर नबूवत रहेगी फिर जब अल्लाह चाहेगा इसको उठा लेगा फिर खिलाफत आला मिनहाज नबुआ होगी जब तक अल्लाह चाहेगा ये रहेगी फिर जब अल्लाह चाहेगा इसको उठा लेगा फिर काट खाने वाली बादशाहत होगी जब तक अल्लाह चाहेगा ये रहेगी फिर जब अल्लाह चाहेगा इसको उठा लेगा फिर जालिम बादशाहत होगी जब तक अल्लाह चाहेगा ये रहेगी फिर जब अल्लाह चाहेगा इसको उठा लेगा फिर खिलाफत आला मिनहाज नबुआ कायम होगी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए यानी ये खिलाफत का निज़ाम एक वक्त तक इसी शक्ल सूरत में कायम रहेगा फिर फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत का निज़ाम ये शक्ल पेश करेगा फिर फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत के इस निज़ाम में ये तगैरत पैदा होंगे ये शक्लें पैदा होंगी फिर फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर खिलाफत आला मिनहाजनबुआ का निज़ाम दोबारा कायम होगा और दुनिया के अंदर इस इस्लाम और इसके निज़ाम यानि खिलाफत के अलावा कोई दूसरा तस्वुर बाकी नहीं रहेगा खिलाफत इतात इलाही पर मुश्तमिल एक बाबरकत सियासी निज़ाम का नाम है हाकिमियत और इकतदार और शरीत इलाही की बालादस्ती का जो तस्वुर इस्लाम ने पेश किया वो इसके निज़ाम खिलाफत के साथ वाबस्ता है और मुसलमान हुक्मरानों को यह बता दिया गया कि इकतदार इख्तियार तुम्हारे पास एक अमानत है इसकी मसूलियत भी है और इसका एहतसाब भी और इसकी बाजपुरस भी होगी और फिर इन खलफा राशिदीन ने कुरान मजीद के अंदर तमक्न फिल अर्ज और इकतदार के जो शराइत और लवाजिम थे उन्हें इस शक्ल में पूरा किया अल्लदीन फिल अर्द अकाम ये वो लोग हैं कि अगर हम ज़मीन में उन्हें इकतदार अता करें तो ये पूरी पाबंदी से नमाज कायम करें जक़ात दें और अच्छे कामों का हुक्म करें और बुरे कामों से मना करें दुनिया के अंदर नमाजों के निज़ाम के ज़रिए मुसलमानों की माशरत उनकी सोसाइटी उनका समाज तरतीब पाता चला गया ज़क़़त और सदक़ात के ज़रिए उनकी मीशत एक हमवार कैफियत इख्तियार करती चली गई दुनिया से लूट खसूट का निज़ाम ख़त्म हो गया और उमरा और गुरबा के दरमियान एक ऐसी सेहतमंद गर्दिश दौलत को कायम किया गया कि जिसके नतीजे में मोहताजी ख़त्म हो गई और अल्लाह ने अपने गनी होने के ज़रिए से इंसानियत को मीशत का एक हसन बख्श दिया अमर बिल मारूफ और नहीं मुलकर मुनकर के जरिए से माशरे के अंदर वो कैफियात पैदा होती चली गई कि माशरा जहन्नम की दलदल से निकलकर जन्नत नज़ीर बनता चला गया और इसी वजह से अमन की ये कैफियत बन गई और खौफ को इस तरीके से ख़त्म किया गया कि बदामनी लूट खसोट रहजनी कज्जाकी डाके और चोरी अलगर्ज बदामनी की जितनी भी शक्लें थीं वो सारी एक एक करके ख़त्म होती चली चली गई और माशरा जो दुनिया के अंदर रूमियों के जुल्म और किसरा ईरान के इस्तेमाल इमदाद के अंदर सिसक रहा था वो मुआशरा जो मिस्र चीन और हिंदुस्तान की गंदी बुत परस्ती और मुख्तलिफ किस्म की घिनौनी असनाम परस्ती के मज़ाहिर के अंदर गिरफ्तार था उसे एक बार फिर अपने मालिक हकीकी को पहचानने का मौका मैसर आया ये कुरान मजीद और मोहम्मद रसूलुल्लाह के तर्ज हुकूमत और आपके उसलूब खिलाफत का एजाज था कि दुनिया ने पहली दफ़ा एक ऐसा माशरा देखा पहली दफ़ा एक ऐसी रियासत देखी पहली दफ़ा एक ऐसी सियासत देखी पहली दफ़ा एक ऐसी मीशत देखी पहली दफ़ा एक ऐसी माशरत देखी पहली दफ़ा एक ऐसी तहजीब देखी पहली दफ़ा एक ऐसा तमदन देखा कि जिसकी मिसाल इससे पहले दुनिया के अंदर मौजूद थी और न आज तकरीबन साढ़े चौदह सौ साल गुजरने के बाद इसका नमूना हमारे सामने आ सका था मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक सवा अरब से ज़्यादा तादाद में बसने वाले तमाम मुसलमानों की दिलों की धड़कनों में ये खिलाफत मौजूद थी मुसलमान अपनी हैसियत इज्तमाही के अंदर जिन परेशानियों में मुबतला था मुर्तद हुक्मरानों उनकी बातिल सियासत और उनके जालिम और नाइंसाफ माशी निज़ाम ने और उनके ताहूती निज़ाम कुफ्र और शिरक ने सौ साल से ज़्यादा अरसे से इस अंदाज से इसको जकड़ा हुआ था कि मुसलमान फिर इस अरसे में इस निज़ाम खिलाफत की तरफ पलट न पाया अल्हम्दुलिल्लाह खुशाइन बात यह है कि आज अल्लाह वालों की एक जमात की तड़प और उनकी कुर्बानियों की बदौलत मशरक़ मगरब में मुसलमानों के एक नए दौर का आगाज़ हुआ चाहता है इन ज़रा अपने दिल की आंखों से दुनिया की तरफ नज़र दौड़ाएं ओदे के सरजमीन अंबिया और सरजमीन इसरा बाबरकत और मुबारक सरजमीन शाम और इराक से खिलाफत की किरणें फूटने लगी दुनिया भर से उम्मत के मुखलिस नौजवान बूढ़े मर्द औरत इंजीनियर्स डॉक्टर्स खिलाफत की नर्म शुआ और महकती हुई खुशबुओं को समेटने के लिए लपकने लगे और इस खिलाफत पर परवाना वार अपनी जाने निसार कर रहे हैं दुनिया का नक्शा तब्दील होने को है काफिरों की खींची हुई लकीरें मिट रही हैं लिसानी इलाकाई नस्ली और जमाती बुनियाद पर कायम कौमियतों के बुत पाश पाश हो रहे हैं शिरक बिदात के अड्डे मिसमार हो रहे हैं तोहद सुन्नत की तालीम आम हो रही है किताब सुन्नत की बुनियाद पर कायम अदालतों में मुनसिफाना फैसले मुफ्त और जल्द आने लगे हैं और दुनिया कुफर इरतदाद पर दहशत और हैबत तारी है मुसलमानों दौलत इस्लामिया इराक व शाम के शेर दिल और मुखलिस मुजाहिदीन ने खलीफतमसलिमिन Sheikh Ibrahim bin Awad bin Ibrahim Abu Bakr al Baghdadi al Husseini al Qurashi al Hashimi हाफिज़ल्ला की खिलाफत का ऐलान कर दिया है वलिल्लाहमदुलमन्ना उम्मत सालों से जिस चीज़ की मुंतजर थी उसको चीज़ मिल गई है हम इस मौके पर अमूमन पूरी उम्मत मुस्लिमा को और बिलखसूस उम्मत मुस्लिमा हिंदिया को खिलाफत की बैत की दावत देते हैं क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है मन मात वलैसफ़ी उनकी बयातुन मातमीतन जाहिलिया जो शख्स इस हालत में मर जाए कि उसकी गर्दन में बयात का कलादा ना हो उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी हम खिलाफत इस्लामी के क़्याम के बाद किसी तंजीमी और जमाती बयात को जायज़ नहीं समझते इसीलिए हम इस मौके पर हर तरह की तंजीमी और दूसरी किस्म की असबियत से अपने आप को दूर रखते हुए इससे मुकम्मल बरात का ऐलान करते हैं और दुनिया भर के मुजाहिदीन को भी हर तरह की जमाती तंजीमी ग्रोही और हिजबी असबियत को छोड़कर खिलाफत के झंडे तले जमा होने की दावत देते हैं ताकि सब मिलकर कुफ बातिल की खोपड़ी तोड़ कर रख दें अल्लाह का इर्शाद है वातसिमु बिहबलिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरका फिरका न बनो दूसरी जगह इरशाद है वला तनाज़उ फतफशलू वतदहब रीहुकुम वस्बिरू आपस में इख्तिलाफ न करो वरना तुम बुजदिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और जमे रहो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अलैकुम बिल जमा व इयाकुम वल फिरका जमात के दामन को मजबूती से थामे रहो और फ़िरका परस्ती से पूरी तरह अलग रहो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आमुरुकुम बिखमसिन अल्लाह अमरनी बिहिन बिल जमाअति वस्सम'i वत्ताअ वल हिजरति वल जिहाद फी सबीलिल्लाह मैं तुम्हें पांच बातों का हुक्म देता हूं जिसका अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है जमात के साथ रहने का समा यानी अहकाम अमीर सुनने का तात यानी अहकाम मानने का हिजरत का और जिहाद फी सबीलिल्लाह का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जमात के साथ वाबस्ता रहने का हुक्म दिया है एक अमीर के साथ एक खलीफा के साथ वाबस्ता रहने का हुक्म दिया है उसी की बात सुनने का हुक्म दिया है उसी की इतात करने का हुक्म दिया है और इस बात की सख्ती के साथ मजम्मत की है कि इस मामले में इज्तमाहीत को छोड़कर हजबियत ग्रोहियत तंजीमियत को इख्तियार किया जाए इन हदीस से मालूम हुआ कि जिस जमाती ज़िंदगी का हुक्म इस्लाम ने दिया है वो कोई ढीली ढाली जमाती ज़िंदगी नहीं जिसकी शराजाबंदी सिर्फ अखलाकी रिश्तों से होती हो बल्कि ऐसी मुतहद मुनज़म और मजबूत जमाती ज़िंदगी है जिसको समोतात के आहनी तारों से पूरी तरह कस दिया है फिर यही नहीं कि मुसलमानों की जमात के दामन को मजबूती से थामे रहने और जमाती ज़िंदगी बसर करने का एक लाजमी हुक्म है बल्कि एक ऐसा लाजमी हुक्म है जिसकी खिलाफ वर्जी में न ईमान की खैर है न इस्लाम से रिश्ता बरकरार रह सकता है रसूल फरमाते हैं खरज मिनल जमात क़ीद शिबरिन फ़कद खला रिब कतल इस्लाम फ़कद खला रिब कतल इस्लाम मिन यानी जो शख्स मुसलमानों की जमात से बालिश भर भी अलग हो जाए कोई शक नहीं कि उसने इस्लाम का हल्का अपनी गर्दन से निकाल फेंका रसूलुल्लाह फरमाते हैं मन खराज الطاع وفارق الجماع فمات तमीतन जाहिलिया जो कोई इताज से किनारा कशी करेगा और जमात से अलग हो जाएगा और इसी हालत में मर जाएगा उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी आज पूरा कुफ्र मुर्तदीन और मुनाफिकीन के साथ मिलकर खिलाफत इस्लामिया के खिलाफ जमा हो चुका है और सू इस पर पेट्रोल छिड़कने का काम कर रहे हैं कुरान मजीद में अल्लाह सुबहाना ने बता दिया है कि इस निज़ाम खिलाफत के मुकाबले में वक्त की सारी ताकतें और कुतें मुश्तम होंगी और निज़ाम खिलाफत के चिराग को बुझाने की पूरी कोशिशें करेंगी फरमाया युरीदून वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दें और अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा को काफिरों को कितना ही नागवार क्यों ना हो दुनिया का तमाम कुफर बल्कि यहूद नसारा और उनकी जरूरत जिस जिस शक्ल में मौजूद हैं ये सारे के सारे चाहते हैं कि अल्लाह की वो रोशनी जो इसके निज़ाम यानी निज़ाम शरीयत की शक्ल में इंसानी फलाह के लिए उसे दी गई है अपने मुंह के फूकों से उसे बुझा दें मौलाना जफर अली खान ने इसी बात की तरफ रहनुमाई करते हुए कहा था कि नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदाजन फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा इसीलिए अल्लाह सुबहान तला ने उम्मत मुस्लिमा को ये मिशन और चार्टर दे दिया और ये बताया वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि उसे तमाम अदियान पर गालिब कर दे अगरचे मुशरकिन को कितना ही नागवार क्यों ना हो ज़माने के सारे कुफ़ार मुशरकिन मुरतद्दीन और मुनाफिकीन खाओ अमरीका की शक्ल में हो या रूस की शक्ल में इसराइल या हिंदुस्तान की शक्ल में हो या सऊदी अरब सऊदी और दीगर अरब ममालिक के मुर्तद हुक्मरानों की शक्ल में हो या उनके टुकड़ों पर पलने वाले आका से ज़्यादा आका के वफ़ादार सू की शक्ल में हो या शिरक और कुफ्र दुनिया की जितनी भी अशकाल और असालीब के अंदर मौजूद हो अल्लाह के नूर का बाल भी बिका नहीं कर सकता अल्लाह तला ने यह फैसला कर दिया कि उसने अपने पैगंबर आजीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद जैसी नूरानी शरीयत के साथ इस तरह से भेजा कि दुनिया के अंदर ये दीन बाकी अदियान निज़ामों और माशरों के ऊपर और बाकी दसातीर के ऊपर इस तरह गालिब हो जाए कि दुनिया में निज़ाम निज़ाम इस्लाम निज़ाम खलीफत के खिलाफत के अलावा कोई और निज़ाम दिखाई न दे ये अल्लाह का वादा है वमन असदक मिन हदीसा वमन असदक मिन क़ीला तमीम दारी रजी अल्लाह से रिवायत है वो फरमाते हैं समिअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल लयबलुगन्न हादल अम्रु मा बलगल लैल वन नहार वला यतरुकुल्लाहु बैत मदर वला वबर इल्ला अदखलहु हादा الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि ये दीन वहां तक पहुंच कर रहेगा जहां तक दिन और रात पहुंचते हैं और अल्लाह ताला कोई मिट्टी का घर और खेमा नहीं छोड़ेगा मगर इसमें इस दीन को दाखिल करके रहेगा इज्जत वाले की इज्जत करते हुए या जिल्लत वाले को जलील करते हुए इज्जत ऐसी कि इसके जरिए अल्लाह ताला इस्लाम को इज्जत बख्शेगा और जिल्लत ऐसी कि इसके जरिए अल्लाह कुफ्र को रसुआ करेगा अल्लाह के बाद उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सच्चा कौन हो सकता है जिनके बारे में अल्लाह ने खुद फरमाया वो अपने ख्वाहिशात से कोई बात नहीं कहते वो तो सिर्फ वही होती है जो उतारी जाती है इसीलिए मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा से अमूमन और हमारे अमीर और खलीफा और उनके सिपाहियों से पूरे यकीन से अर्ज करता हूँ आप और हम पामर्दी के साथ डटे रहें इन दुनिया की कोई ताकत खिलाफत ख़त्म नहीं कर सकती ये उनके बुझते हुए चिराग की आखिरी लौ है जो आखिरी दफ़ा ज़ोर से फड़फड़ा रही है बीज नीला इनका ये चिराग बहुत जल्द हमेशा के लिए बुझ जाएगा आखिर में मैं उम्मत मुस्लिमा और खिलाफत इस्लामिया के मतवाले दुनिया भर के गयूर मुसलमानों को हमारे महबूब गयूर मुजाहिद कायद फाजिल आलिम दीन खिलाफत इस्लामिया के तर्जुमान शेख अबू मोहम्मद अदनानी हफीज़ल्ला के आखिरी बयान का एक इकतबास सुनाता हूँ ए यूरोप अमरीका ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मौजूद माहिदों ए मराकश और अलजायर में मौजूद तोहैद परस्तों ए खुरासान कोकाज और ईरान में बसने वाले तोहद के मतवालों ए रुए ज़मीन पर मौजूद तमाम माहिदों ए अक़ीदे के बाहियों ए अलवला और बरा वालों ए दौलत इस्लामिया के मददगारों ए दुनिया भर में खलीफा इब्राहिम की बयात करने वालों ए दौलत इस्लामिया के चाहने वालों ए खिलाफत की तइद करने वालों ए अपने आप को दौलत इस्लामिया के सिपाहियों और मददगारों में से समझने वालों तुम्हारी दौला को एक नए सलेबी हमले का निशाना बनाया जा ए मुआहिदो तुम जहां कहीं भी हो तुम अपने भाइयों की मदद के लिए क्या कर रहे हो तुम अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो जबकि लोग दो खेमों में बट चुके हैं और जंग दिन ब दिन भड़कती जा रही है ए तोहेद परस्त हम तुम्हें दौलत इस्लामिया के दिफा के लिए हाई अलर्ट करते हैं जिसके खिलाफ बीसियों ममालिक मुतहद हो चुके हैं और उन्होंने हर सतह पर दुश्मनी और जंग शुरू कर दी है बस ए मुआहिद उठ खड़ा हो जा और जहां कहीं भी है वहीं रहकर दौलत का दिफा कर उठ और अपने मुसलमान भाइयों की मदद कर जिनके घर उनके इज्जतें और उनके अमवाल को लूट जाने का खतरा लायक है वो इस्लामी तारीख के फैसला कुन सख्त मारिकों में से एक मारिका लड़ रहे हैं अगर इस मारिके में मुसलमान पसपा हो गए तो फिर मुसलमान ऐसी जिल्लत का शिकार होंगे कि जिसके बाद कोई जिल्लत ना होगी लेकिन अगर मुसलमान कामयाब हो जाते हैं और अल्लाह के हुक्म से ऐसा ही होगा तो फिर उसके बाद मुसलमानों को पूरी इज्जत मिलेगी और मुसलमान दोबारा दुनिया के हुक्मरान और ज़मीन के बादशाह बन जाएंगे ए मुआहिद आगे बढ़ तुम जहां कहीं भी हो तुम इसमें अपना हिस्सा डालने का मौका ज़ाया मत करो तुम तवागीत के सिपाहियों उनके मददगारों उनके अहलकारों उनकी पुलिस उनके सिक्योरिटी अहलकारों उनकी एजेंसियों के अफराद और उनके एजेंटों पर उनके बिस्तर काट डालो उनकी ज़िंदगी को तंग कर डालो उनको अपने आप में ही मसरूफ़ कर डालो अगर तुम किसी अमरीकी या यूरोपी काफिर को कत्ल करने की कुदरत रखो बिलखसूस पलीद मुतासब फ्रांसीसियों में से या आस्ट्रेलियन या कैनेडियन कैनेडियन या इनके अलावा दीगर महारब काफिरों में से जो इन ममालिक की रियाया हैं जिन्होंने दौला इस्लामिया के खिलाफ इतिहाद कायम किया है फिर अल्लाह पर तवक्ल करके उसको किसी भी वसीले और तरीके से हलाक करो तुम इसकी बाबत न किसी से मशवरा करो न ही किसी से कोई फतवा लो चाहे वो काफिर शहरी हो या फौजी क्योंकि दोनों का हुक्म एक ही है वो दोनों ही काफिर हैं दोनों ही जंगजू हैं और दोनों का खून और माल हलाल है बस किसी का खून कपड़ों से हलाल और हराम नहीं होता न शहरी लिबास किसी का खून हराम करता है और न ही फौजी वर्दी किसी का खून हलाल करती है बल्कि किसी का खून हराम सिर्फ इस्लाम और अमान के साथ होता है जबकि किसी का खून हलाल कुफर के साथ होता है बस जिसको मुसलमान कहा जाए तो इसका खून और माल महफूज हो गया लेकिन जिसको काफिर कहा जाए तो इसका माल मुसलमान के लिए हलाल है और उसका खून ऐसा जायज़ है कि इस पर कोई किसास नहीं क्योंकि इसका खून एक कुत्ते का खून है इसमें कोई गुनाह नहीं और नहीं इस पर कोई दियत है अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ैज़न फिर जब हुरमत वाले महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां तुम उन्हें पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर जगह उन पर घात लगा कर बैठो मजीद फरमाने बारी ताला है फरूफ बस जब तुम्हारा सामना काफिरों से हो तो उनकी गर्दनें उड़ाओ रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया काफिर और उसको कत्ल करने वाला मोमिन कभी जहन्नम में इकट्ठे नहीं होंगे आपने फरमाया मन कतल काफिरन फलहू सलबु जो किसी काफिर को कत्ल करे तो उसका माल उसी के लिए है सो ए मुहिद ए अलवला अलबरा के अकीदे को इख्तियार करने वालों क्या तुम अमरीकी और फ्रांसीसी या उनके इतिहादियों में से किसी एक को जमीन पर मुतमिन चलने दोगे इस हाल में कि सलीब की अफवाज अपने तैयारों से मुसलमानों के मुल्कों को निशाना बना रही है और किसी शहरी और अस्करी के दरमियान कोई फर्क नहीं कर रही है तीन दिन कबल मुस्लिम खातन उनकी बम्बारी से शहीद हो गई जो एक बस में शाम से तीन दिन कबल इराक जा रही थी क्या तुम काफिर को उसके अपने घर में आराम से सोने दोगे जबकि सलीबी तैयारे मुसलमानों की औरतों और बच्चों को उनके सरों पर मंडलाते हुए अपने शोर से दिन रात खौफजदा कर रहे हैं बस तुझे कैसी जिंदगी अच्छी लगती है तुझे आराम की नींद कैसे अच्छी लगती है कि जबकि तुम अपने भाइयों की मदद करो सलीबियों के पुजारियों के दिलों में रुआब डालो और एक का जवाब दुगने से दो ए मुहिद तू जहां कहीं भी है अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी दौला और अपने भाइयों की मदद करो सबसे बेहतर काम यह है कि तुम अपनी तवानाई किसी अमरीकी या फ्रांसीसी काफिर या उनके इत्यादियों में से किसी को भी मारने पर सर्फ करो या लोगो जो ईमान लाए हो अपने हथियार संभालो फिर अलग अलग दस्तों की सूरत में निकलो या सब इकट्ठे होकर निकलो <clears throat> अगर तुम बारूदी सुरंग बुछाने या गोली चलाने से भी आजिज आ जाओ तो तुम किसी भी अमरीकी या फ्रांसीसी काफिर या उनके इत्यादियों में से किसी को भी तन्हाई में ले जाकर उसके सर पर पत्थर मार दो या छुरी से इसे जबाह कर दो या अपनी गाड़ी तले उसे कुचल डालो या उसे बुलंदी से फेंक दो या उसकी सांसों को बंद कर दो या उसको जहर दे दो बस तुम कभी आजिज नहीं आना और कमजोर मत पड़ना सो तुम्हारा नारा ये होना चाहिए मैं नहीं बचूंगा अगर सलीब का पुजारी और ताहूद का मददगार बच निकला अगर तुम ये करने से भी आजीज आ जाओ तो भी उसके घर या उसके कारोबार या उसकी गाड़ी को जला डालो या उसकी खेती को आग लगा दो अगर तुम ये सब करने भी इससे भी आजीज आ जाओ तो तुम उसके मुंह पर थूक दो अगर तुम्हारा नफ्स ये करना भी गवारा नहीं करे जबकि तुम्हारे भाइयों को कत्ल और तुम्हारी बम, और बम्बारी का निशाना बनाया जा रहा है और उनके खून और माल को हर जगह जायज़ करार देकर लूटा जा रहा है तो इस हालत में तुम अपने दीन पर नज़रसानी करो बस तुम बहुत बड़े ख़तरे में हो क्योंकि अलवला बरा के बग़ैर दीन कायम नहीं होता शेख अदनानी हफीज़ल्ला की बात ख़त्म हुई आज हम इस मौके पर खलीफतमसलिमिन इब्राहिम बिन अल अलकुरशी के हाथ पर तंजीम अंसार तोहद फ़ी बिलादिल हिंद की बयात का ऐलान करते हैं نبايع امير المؤمنين وخليفه المسلمين على السمع والطاعه في المنشط والمكره في العسر واليسر وعلى اثره علينا والا ننازع الامر اهله الا ان نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان الا दौलत इस्लामिया के मुजाहिदीन की मदद फरमा अल्लाह ये सलीबी दीगर कुफ़ार मुर्तद्दीन और मुनाफिकीन के साथ तेरे दीन को मिटाने और तेरे दीन से चिमटे रहने वाले वालों से लड़ने आए हैं तू इनके मंसूबों और साजिशों को नाकाम कर दे अल्लाह उनके लिए तू काफ़ी हो जा मुजाहिदीन की सूरत फरमा उनके दुश्मनों को ऐसी शिकस्त दे कि दुनिया इससे इबरत हासिल करे अल्लाह तू इनके तैयारों पर आसमान से अजाब नाजिल कर बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है इन सू को दुनिया और आखिरत में जलील रसुआ कर दे आमीन वल्ला الله غالب على अम्रि ولكن अक्सर الناس ला यअलमून आखिर में हम खलीफतमसलमिन और दुनिया भर में मौजूद खिलाफत के सिपाहियों और पूरी उम्मत मुस्लिम को ईद अजी की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करते हैं व आखिर उदावानहमदिल्ला रबालमीन वसल वसलम नबीना महमद वाल वसहबी अजमाइन